कह करके उनके सिद्धि सूचक उन्होंने प्रतिष्ठा का सूचक सिद्धि आदि का कथन किया भुक्ता उत्तर सूत्र अवतारयती आगे सूत्र का अवतरण करते भाष्य में उक्ता सह सिद्धिवीर यमनियमा या सिद्धिवीर सह यमनियमा उक्ता यमनियम कह गए सिद्धि के साथ आसनादि ने बक्षा आसनादि कहेंगे आठ अंगों में से पहला अंग क्या है यम नियम कृत्यासन आसन आसन आदि नहीं आदि पर से कितने लेंगे तो अपने के साथ और दोनों हो जाएंगे टीका में उगता है सौ सिद्धि भी यम नियमा आसनादि ने बक्षा में ये सूत्र हुआ स्थिर सुखम आसनम स्थिरम च सुखम च स्थिर सुखम स्थिरम च सुखम आसनम टीका में स्थिरम का निश्चलम यद सुखम तद आसनम स्थिरम यद सुखम सुखम का सुखावह निश्चल हो और सुख प्रापक हो सुख बहुत ही सुख से रहता है स्थिर रहे कष्ट करके समय सुख से स्थिर निश्चल रहे अभ्यास करने पर होता है पहले तो स्थिर रहने के लिए अभ्यास है किसका पैर हाथ हिलाने का बैठते समय का पैर हिलता रहेगा ऊपर नीचे हिलता बिना प्रयोजन कुछ मिलता नहीं है ऐसे आदत है बैठते एक पैर हिलता रहेगा तो पैर हिलाते कुर्सी पर बैठ करके ऐसे नीचे बैठ करके पैर हिलाते रहते ऊपर नीचे अभ्यास करने पर स्थिर होता है स्थिर होने के बाद भी एक आस में बैठना कठिन होता है पहले अभ्यास करने पर फिर जो हो जाता है तो स्थिर निश्चल होकर के सुख से बचता है तभी ध्यान चिंतन बनेगा बैठना यदि थोड़ी देर स्थिर नहीं होगा तो मन कैसे स्थिर होगा ध्यान कैसे करेगा यदि एक घंटा दो घंटा तीन घंटा चार घंटा पाँच घंटा ऐसे बैठ स्थिर होकर के तो थोड़ा मन से लगाएगा चिंतन करने के लिए ये पहले आसन भी अंग है योग का तद आसन में था आसन आस्यते अत्र आस्ते वाले नहीं के आसन आस्यते अत्र के आसन जिसमें बैठते हैं तो जिसके द्वारा जिस अंग विन्यास करके बैठता उसको आसन कहते हैं तसे प्रभेदान आसन के भेद कहते हैं भाष्य में तद यथा पद्मासनम वीरासनम भद्रासनम स्वस्तिकम दंडासनम सोपानाश्रय सोपाश्रय पर्यंकम क्रंथ निषदनम हस्त निषदनम पुष्ट निषदनम संस्थान स्थिर सुखम यथा सुखम से आदिन आदि ये आसन का नाम से है भेद और बहुत आसन है जितने योनि है कितने है चौरासी लाख सब अलग अलग उनके आसन लेकर के इतने हो सकता है जितने हो आसन है पद्मासनम प्रसिद्धम ये तो प्रसिद्ध है पद्मासन स्थित एक तरह पादो भूमि भून्यस्त एक तरह से आकुंचित जान रूपरी न्यस्त इतत वीरासन वीरासन किसी को मालूम है कौन आसन करने वाले हैं योगी तो बैठ कर दिखा दो ये तो वज्रासन हुआ वीरासन कैसे है कैसे है पता नहीं विभिन्न पुस्तक विभिन्न भिन्न भिन्न होता है तो इसमें लिखा है स्थित एक तरह पाद भूम्यस्त एक पाद भूमि में रहेगा एक तरह से आकुंचित जानूर ऊपर न्यस्त एक निश्चय रहा दूसरे आकुंचित करके ऊपर था देखा तो सब देख लो अरे किसको मालूम नहीं योग कोई है योगी है मालूम है ये तो अलग है किए कहीं ऐसा ही आसन करते हाथ को उस पर नहीं रखते ये भी रखते हैं हाँ, ये आ, हाँ। लगना चाहिए हाँ, अच्छा एक तरह साध में भूमि में रहेगा एक तरह आकुंजित करके जानू के पर नष्ट ये विरासना और आगे सिद्ध सिद्ध तले भीषण समीपे संपुटीकृत्य तस्परी पाणी कश्यपिका कुरिया तद भद्रासन ये सिद्धासन के भद्रासन का पाद तले वृषण समीप वृषण अंडकोश समीपे संपुटीकृत्य तो दोनों एक नीचे एक ऊपर रहेगा वो तो सिद्धासन होता है एक पाद अंडकोश के नीचे रहेगा एक ऊपर रहेगा संपुटीकृत्य तत्व ही पानी कच्छति काम पानी ऐसे करके रखना भद्रासन है सव्यम आकुंचितम चरण दक्षिण जंघोर जंघोर अंतरे दक्षिण चाकुचित वाम जंघोर अंतरे निक्षेप एत स्वस्तिकम ये स्वस्तिकासन मालूम है स्वस्तिकासन योग वेदांत से आने वाले कौन है <laughs> योग वेदांत फरिश्ता के आसन दिख रहा है नहीं सत्य का आसन एक मालूम है कि सत्य आसन आत्मा देखा कृष्ण तो सत्य आसन नहीं नहीं किसके बारे में सत्य आसन नहीं है भूल गया एक पाद ऐसा ऐसे करेगा ये पादु इसके अंदर ये पादु इसके अंदर फिर बैठो हाँ कोई बैठ अंदर घुसेगा ऊपर नहीं इसके अंदर घुसना ऐसे नीचे गर्मी के समय बैठो पाद पाद गर्म होगा इतने नहीं इसके अंदर ही घुसेगा ये पौधे के अंदर यहाँ है ना ये अंदर घुसेगा ये ऊपर जाकर ये अंदर घुसेगा है ना ये हाथ है ना पाद ऐसे होना चाहिए अंदर घुसना चाहिए नहीं हुआ एक पैर घुसा दूसरे पैर ऊपर उठा हाँ हाँ ऐसे दोनों ये हुआ ये सत्यासन और किसको मालूम है देखा किसने आसन नहीं देखने की इच्छा भी नहीं है <laughs> इच्छा हो तो कहेंगे दिखा नहीं दे देखा लो तो नहीं देखा लो कहेगा तो जा जो एक बार सर है हाँ तो ठीक जितने आता जो जितने जो अगर इनमें कोई है तो आप हैं है आसन नहीं ऐसे बैठे तो पैर के हाँ देखो इसके अंदर घुसेगा हाँ ये अंदर ये वो उसके अंदर घुसेगा हाँ अं-, अंदर घुसेगा ये पूरा नीचे जाने चाहिए ये सत्य अपने पूरा ऐसे बिल्कुल अंदर रहेगा हमारा एक पाद ऐसा तो है ये तो सरल चलते है इसको अंदर घुसा नहीं जाओ खुल जाओ देखो नहीं और किसका आता है सत्य का सुनो ये सरल खाने के समय से बैठो तो पाद कर्म रहता है स्वस्ति का सुना निक्षेप दे स्वस्ति को उपविष्ट सृष्टांगुली को सृष्ट गुल्फ भूमि सृष्ट जंघोरुपाद प्रसार्य दंडासनम अपेक्षित ये तो सबसे अच्छा है दंडासन अंगुली सृष्ट गुल्फ सब सीधा करके भूमि सृष्ट जंघ जंघ और पाद नीचे रहेगा इसे प्रसार्य करके ऐसे करके दंडासन अभ्यसित और एक योग पटक योगा सोपाश्रय योग पट्टक योग से सोपाश्रय आसन इसमें कुछ नहीं दिया है जानु प्रसारित बाहु शयन पर्यंक जानु प्रसारित बाहु करके इसे सो जाना सवा संजय करके पर्यंक है क्रौच निषदनादिनी क्रौचादि नाम निषणानाम क्रौचादि बैठे हुए जिस प्रकार संस्थान दर्शनाथ उनके जैसे वैश्य समय दिखता है इसी प्रकार प्रकृत व्यामी ऐसा ना क्रंच हस्ती पुष्ट बैठते समय जैसे बैठते उस प्रकार आकार बैठना है ये इस आसन रखा अन्य बहुत आसन है सिद्धासन इसमें नहीं है ना ये जो सिद्धासन इस भद्रासन था ना वो सिद्धासन है अंडकोश के नीचे ऊपर दर कर बैठना सिद्धासन ये अं, अं, पार्षणी पादाग्राभ्याम द्वयर आकुंचित अन्यून संपीडन समस्थान पाद पार्श नीचे वाला अग्रह दोनों आकुंचित करके अन्यून संपीडन दोनों ऐसे करके बैठना ऐसे दोनों कोई कर सकता हो दोनों टायर ऐसा रख कर बैठना चौड़ा चौड़ा करना पड़ेगा हाँ तो उसके ऊपर नहीं बैठना <laughs> हाँ, इसी के दोनों लाभ से रहेगा राष्ट्रीय बाधा के राजा द्वयर आकुंजित और अन्योन संपीड़नम दोनों संस्थान पदय से रहेगा ये न संस्थान अवस्थित स्थैर सुखम सिद्धति तद आसन स्थिर सुखम स्थिर सुख है जैसा बैठने से स्थिर रहेगा सुख रहेगा वो आसन इसे स्थिर सुखम आसन कहा जिस आसन में आप स्थिर होकर के सुख से बैठते हो वही आसन है पद्मासन हो वीरासन भद्रासन सिद्धासन हो स्वस्तिकासन हो ये सब है जो स्थिर बैठ सकते सुख तो आसन स्थिर सुखम आसन समस्थान हो गया तत्र भगवत सूत्रकार समतम ये तस्य विवरणम यथा सुखम च यथा सुखम च इतम आदमी सूत्र में स्थिर सुख कहा गया जिससे निश्चल सुख से बैठ सके वही स्थिर सुखम आसन यथा सुखम से ऐसे सुख से बैठ सके कोई आसन हो अभ्यास करना पड़ता है दो तीन चार पांच आसन ऐसे करते करते पद्मासन कभी सिद्धासन एक लगातार नहीं होता तो दूसरा आसन ऐसे करते करते पहले में अभ्यास होता है फिर कर सकते हैं आसन सुखासन कहते हैं सामने बैठते हैं किंतु लगातार बैठना है थोड़ी देर बैठना तो सब तो आसन बढ़ जाएंगे लगातार अभ्यास करना है आसन स्वरूप मुक्त तत् आह आसन स्वरूप तो क्या उसका साधन कहते कैसे आसन सिद्ध होगा प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम कितने पदे है एक ही एक ही प्रयत्न शैथिल्यम च अनंत समापत्ति इति प्रयत्न शैथिल अनंत समापत्ति ताभ्याम प्रयत्न शैथिल न अनंत समापत्तिया प्रयत्न शिथिल बैठने के लिए प्रयत्न करके पैर को खींच करके रखना पड़ता है प्रदर्शन पहले पहले फिर अभ्यास होने पर प्रयत्न शिथिल कुछ नहीं अपने आप रहेगा जैसे इसको रख दिया फिर रहता है ना कुछ प्रयत्न करना पड़ता है ऐसे बैठने के लिए अभ्यास हो जाए जैसे आत्मा अगर बैठ गया और तो प्रयत्न करना नहीं पड़ता है बीच में हिलाना नहीं खींचना नहीं दबाना नहीं हाथ से दी बीच कुछ नहीं अपने बैठेगा आराम से ऐसे प्रयत्न शिथिल कर बैठने पर धीरे धीरे अभ्यास होता है और थोड़ा सा आसन करके कुछ ध्यान एकाग्र चिंतन करे तब वो आसन भी सिद्ध होगा अन्य चिंता नहीं ये पैर कहीं चिंता चिंतन करते रहे <laughs> ये कष्ट होता है इसके पर उठा सुन जाएगा तो थोड़ी देर में थक जाएगा नहीं रह सके कुछ अन्य ध्यान करे इसको भूल जाए तो अपने आप बैठने से कुछ होगा और कुछ तकलीफ होने पर सह करके बैठे सहन करना पड़ता रहने पर होता है और दूसरा है कि समाधान अनंत समापत्ति ध्यान अनंत में समा अनंत समापत्ति अनंत समापत्ति जब आसन जो नहीं कर पाते आसन करना जो चाहते हो अभ्यास करो और आंख बंद कर सोचो सामने अनंत नाग है कितने पण है, सहस्रपण हाँ सहस्रपण साहब सामने हाँ, ऐसे दिखता है तो हजार हजार उसके ध्यान करो अनंत अवतार है लक्ष्मण जी कहते बलराम है पतंजलि महर्षि भी अनंत अवतार है अनंत है तो इसे अनंत समाप उसके एकाग्र करो तो शासन सिद्ध होगा और अनंत कार से भी कई ऐसा करते हैं अनंत है आकाश आकाश का चिंतन कर ध्यान करें आकाश में कहा पूरा आकाश व्यापक है सर्व व्यापक सब के अंदर बाहर आकाश ऐसा चिंतन करें ये भी कोई कहते तो मुख्य है अनंत सर्प सामने है एक चिंतन करें ये अनंत समापत्ति भवती से वाक्य है सर आसन भवती ऐसा करने से प्रयत्न उपरम उपरमा सिद्ध्य आसनम प्रयत्न बहुत करके रखना पड़ता है फिर बाद में अभ्यास होने पर प्रयत्न नहीं करके बैठे आसन सिद्ध होता है ये नांगम एजयो भवती अंगम एजय एजिर कंपन अंग में कंपन होता है किंतु ऐसे प्रयत्न शिष्य तो करके अंग में कंपन शांत हो जाता है अनंत व समापन चित्तम आसनम निर्वर्तयति अनंत में समाहित चित्त आसन संपादन करता है निर्वर्तयती एक ताधिक है टीका में सांसिध्य को ही प्रयत्न शरीर धारक न युगांग से उपदिष्ट व्यापन से कारण सांसिध्य के स्वाभाविक प्रयत्न शरीर में होता है इस शरीर का धारण करने के लिए शरीर धारक है किंतु योगांग जो उपदेश करते आसन उसका कारण नहीं स्वाभाविक प्रयत्न स्वाभाविक प्रयत्न तो होता ही रहता है वो अंग युगांग का साधन नहीं है तथा तत्कारण से उपदेश क्या स्वाभाविक प्रयत्न से यदि आसन हो जाए तो आसन का साधन उपदेश व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि सरस्वती वो सीधे स्वभाव तो सिद्ध हो जाएगा इसे स्वाभाविक प्रयत्न आसन का कारण नहीं तस्माद उपदेश व्यक्ति आसन से अयम साधक उपदेश जो आसन उसका साधक बताते विरोधी च स्वाभाविक प्रयत्न जो विरोधी स्वाभाविक प्रयत्न है विरोधी होना चाहिए तथ्य च यादृशिक आसन का तो हेतुतया आसन नियम उपहंत्रित्व तस्माद उपदिष्ट नियम आसन अभ्यसता ये अयम गलत हुआ अयम असाधक हो जो स्वाभाविक का प्रयत्न है वो साधक नहीं असाधक है विरोधी च उपदिष्ट से आसन से अयम असाधक विरोधी च अयम असाधक पाठे असाधक अयम कौन स्वाभाविक प्रयत्न यह जो स्वाभाविक प्रयत्न है आसन का ये असाधक साधक नहीं है अभी तो विरोधी है स्वाभाविक प्रयत्न विरोधी है प्रयत्न का आगे स्वल्प विराम चाहिए स्वाभाविक प्रयत्न ये आसन का साधक नहीं असाधक और विरोधी है तथ्य से यादृश्य का आसन हेतु तया तो आसन नियम अपहंत्रित जो स्वाभाविक प्रयत्न है वो तो यादृश्य का आसन हेतु ही जब इच्छा जैसे बैठा उसका कारण हुआ आसन नियम का उपहंत्री आसन नियम को नष्ट करने वाला स्वाभाविक प्रयत्न आसन सिद्धि का कारण कैसे होगा वो तो विरोधी है तस्माद उपदिष्ट नियम आसनम अभ्यस्यता स्वाभाविक प्रयत्न शैक्षिक आत्मा प्रयत्न आस्थेय जो उपदेश करते नियम आसन को अभ्यास करता है साधक स्वाभाविक प्रयत्न शैथिल्य आत्मा भव शैथिल्याय प्रयत्न आते बनाया हाँ ठीक है स्वाभाविक प्रयत्न शैथिल्याय स्वाभाविक प्रयत्न शिथिल करने के लिए प्रयत्न आते प्रयत्न करना चाहिए जो स्वाभाविक प्रयत्न होता है उसको उपराम करने के लिए शिथिल करने के लिए प्रयत्न करे स्थिर बैठे नान्यथा आसन सिद्ध थी इसके बिना उपदिष्ट आसन सिद्ध नहीं होगा प्रयास करना पड़ेगा प्रयत्न करना पड़ेगा स्वाभाविक प्रयत्न को शिथिल करना है स्वाभाविक प्रयत्न को रोकना नहीं करना हिलाना नहीं इधर उधर देखना नहीं शांत होकर बैठना ये अभ्यास करना पड़ता है नान्यथा उपदिष्ट आसन नन्यथ सिद्धि थी स्वाभाविक प्रयत्न शैथिल आसन सिद्धि हेतु स्वाभाविक प्रयत्न शिथिल ही शिथिल करना ही आसन सिद्धि कहती है स्वाभाविक हाथ पर हिलना होता है हिलते हिलाते उसको रोकना है शिथिल करके बैठना तो प्रयत्न शिथिल करने से अन्य कुछ प्रयत्न न करके फिर बैठे अभ्यास करेंगे पहले कष्ट होगा फिर बाद में धीरे धीरे अभ्यास से प्रयत्न चित्र हो जाए कुछ करना नहीं स्थिर बचना शांत हो ये एक हो गया प्रयत्न साहित्य लेना दूसरा अनंत समापत्यावा अनंत अनंत है नाग नायक नागराज है नाग नायक नागराज में स्थिरतर फणा सहस्र विद्युत विश्वभरा मंडल स्थिरतर स्थिर केवल नहीं शांत होकर के फणा सहस्र सहजार फणा में विद्युत विश्वभर पृथ्वी को धारण किया हुआ उसके ऊपर ऐसे शांत होकर स्थिर है उसमें समापनम चित्तम आसनम निर्वर्तित एकाग्र होने पर चित्त आसन संपादन होता है इसके स्थान पर यहाँ ये टीका में दिया भास्वती टीका में आनंद का था परम महत्व का समापन आकाश भी लेने के लिए कहा गया तो अनंत है सहस्र प्रणाम चित्त अनंत में मन को लगाए ध्यान करे आसन विजय सूचक माह आसन विजय का सूचक है कैसे पता चलेगा आसन सिद्धि हुई आसन में तीन घंटा कम से कम बैठने का अभ्यास होना चाहिए कितने कम से कम अधिक से अधिक नहीं कम से कम तीन अधिक चार पाँच छः सात आठ दस जितना हो ऐसा अभ्यास करे जब पहले पहले आधा घंटा एक घंटा कठिन होता है कष्ट होगा गर्म होगा कुछ समय के बाद फिर जब अभ्यास होगा तो फिर आस्था ही लगेगा आसन हटाने के लिए खोलने की इच्छा नहीं होगी आसन लगा कर रहा तो फिर आसन सर्व विस्मरण हो जाएगा अंग फिर शांत होकर बैठ सकता है यह मन एकाग्र होगा तो आसन सिद्ध होता है और आसन जितने सिद्ध स्थिर होता है तो मन भी इतने एकाग्र होता है मन में चांचल्य तो शरीर में भी चांचल्य उसका प्रभाव आता है और शरीर में चांचल्य है तो मन कैसे स्थिर होगा इसलिए ऐसा आसन अभ्यास करके सिद्धि होनी चाहिए तो सिद्धि का सूचक कहते आचार्य विजय का सूचक कहते तथो द्वंद्वानभिघात तथ न अभिघात पीड़ा कष्ट नहीं होगा द्वंद्वे शीतोष्णादि द्वंद्वे आसन जया ना भी हुए थे शीतोष्णादि द्वंद्व से दबेगा नहीं पीड़ित नहीं होगा आसन जया आसन जय होने पर अभ्यास करके स्थिर हो गया तो शीत आदि का नहीं शीत काल में भी आसन सिद्ध कर बैठेगा तो शरीर गर्म हो जाता है फिर प्राणायाम भी होता है अभी शरीर गर्म कर देता है तो फिर गर्मी के समय भी आसन सिद्ध हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा शरीर में गर्मी देह अंग भान नहीं होगा तो फिर ना भी बेटे द्वंद्व अधिगा तो द्वंद्व से पीड़ित होगा तो फिर ध्यान नहीं कर सकता है टीका में निगत व्याख्यातम भाष्यम निगत व्याख्यातम कैसे समाज करेंगे निगत व्याख्यातम हाँ। निगत व्याख्यातम निगदेन व्याख्यातम निगत व्याख्यातम तृतीय निगदेन व्याख्यातम निगदे कथन गद धातु का नहीं पूरा निगदेन कथन है ना व्याख्यातम भाष्य पढ़ दिया तो भाष्य का भाष्य का भाष्य की व्याख्या होगी सरल है निगद मात्र न व्याख्यान निगदेन व्याख्यान है व्याख्यातम निगदन वाक्यात्म किम भाष्यम भाष्यम व्याख्यात्म निगद मात्रेण भाष्य की व्याख्या हो गई कथन पढ़ देने मात्र से शीत उष्ण आदिवीर गंभीर आसन व्यात नानुभेद ये व्याख्या भाष्य पढ़ने से व्याख्या में तो सरल है आसनम अपनी उत्तम विष्णु पुराण विष्णु पुराण में आसन कहा गया एवं भद्रासनादीना समास्थाया समास्थाय गुणैर्युतम समास्थाय भद्रासनादिना समास्थाय गुणे युक्त में कोई एक आसन को समास्थाय बैठ करके गुण से युक्त होकर के ध्यान करे यम नियमादि से युक्त होकर के आसनानंतरम तत्पूर्वकता प्राणायाम से दर्शन स्तलक्षण आह आसन के बाद यम नियम आसन उसके बाद प्राणायाम आसनानंतरम प्राणायाम तत्पूर्वकता प्राणायाम से दर्शय प्राणायाम से तत्पूर्वकत्व आसन पूर्वकत्व आसन पहले स्थिर करके फिर प्राणायाम दर्शयन दिखाते हुए तलक्षण तस्य लक्षण तलक्षण तलक्षण दर्शयन दर्शयन में नश्चर्य प्रश्न लगेगा सब हम्म, शब्द क्या है थव्य है थव्य थव्यत है ना कहते हैं छवि न छवि अप्रसन्न छ प्रत्याहार में कौन बने यहाँ है सखटा तो बनेगा ना यहाँ तक तो बने बता दो यहाँ कौन सा बने नकार छ में नकार आएगा यहाँ बनने में नकार आ गया छ में छ आता है तकार हम्म? तकार तकार छ में तस्मिन सती श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम तस्मिन आसन सती आसन जय सती श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद श्वास एक होता है और एक प्रश्वास जो अपन ग्रहण करते श्वास है और जो छोड़ते बाहर उसका नाम प्रश्वास इस दोनों की गति का विच्छेद गति रूप जाने इसका नाम प्राणायाम सत्यासन जय बाह्य से आचमन आचमन श्वास आसन जब होने पर अभी प्राणायाम करना है तो श्वास क्या है बाह्य से वायुर आचमन बाह्य वायु को ग्रहण करना आचमन है श्वास तो जब आचमन करते या समूह भक्षण है वायु का भक्षण का तो ग्रहण करना ये श्वास है और कोष्ठ से वायु निस्तारण प्रश्वास कुछ शरीर में पेट में वायु तो बाहर छोड़ना है प्रश्वास तय गति विच्छेद दोनों गति का विच्छेद का तो उभय भाव श्वास नहीं प्रश्वास नहीं इसका नाम प्राणायाम न अंदर से बाहर छोड़ना न बाहर से अंदर ग्रहण करना यही प्राणायाम है गति विच्छेद प्राणांति का नहीं रेचक पूरक कुंभकेशु अस्थि श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद रेचक बाहर छोड़ते भाई छोड़ कर रख दिया पूर्व का अंदर ग्रहण करते करके रख दिया और कुंभक है जहाँ कहाँ रुक दिया रेचक में बाहर छोड़कर रुकना पूर्व का अंदर भर कर रुकना और रेचक पूर्व शास्त्री तो के है बीच बीच में जहाँ कहाँ रुक देना इसमें श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद है यदि प्राणायाम सामान्य लक्षण ये हो गया श्वास प्रसाद गति विच्छेद तथा ही यत्र बाह्य वायु राजन में अंतर्धार्यते पूर्वक तत्र श्वास प्रश्वास गति विचेद बाह्य वायु आश्रम में अंतर्धार्यते अंदर ग्रहण करके अंदर धारण करते रखते हैं रुकते हैं पूर्वक हुआ भर करके तत्र अस्ति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद यत्र कोष्ठ्यो वायु विरिच्य विरच्य विरेह रेकार विरिच्य विरच्य विरिच्य री में रे नहीं बनाया रिचिर विरेचन तो है रिचिर विरेचन है विरिच्य कहीं विरिच्य पाठ निकाल करके तो विरिच्य बाह्य अं, बाह्य अंदर वायु को बाहर छोड़ करके यथापि के वायु विरिच्य बहिर्धार्य थे छोड़ करके अंदर धारण किया जाता है बाहर धारण करते रेचक तत्ता भी अस्थि गति विच्छेद श्वास प्रसार गति प्रश्वास और गति विच्छेद खींच करके अंदर लेकर के रुक जाना बाहर निकाल के रुक जाना अथवा ये गति विच्छेद हुआ एवं कुंभ के भी ऐसे बाहर से खींच करके अंदर करते उसको भी कुंभक कहते हैं अंत कुंभक बाहर छोड़ करके कुंभ करते तो बाह्य कुंभक हुआ क्यों यहाँ रेचक पूरक रेचक करके कुंभक पूरा छोड़ करके कुंभक करना और केवल कुंभक केवल कुंभ के जहाँ कहाँ रुक जाना तदेत भाष्य न उच्चते सत्य आसन इत्यादि अभी सूत्र सुनाना है ना कौन सुनाया सूत्र